भगवान से संत श्रेष्ठ दादू की कुछ साखियां हैं सबदय वंध्या सब रहे सबदय सब ही जाय सबदय ही सब ऊप जय सबदय सबय समाय सबदय ही सच पाइये सबदय ही संतोष सबदय ही थिर भया सबदय ही भागा शोक सबदय ही मुक्ता भया सबदय समझय प्राण सबदय ही सूझय सबय सबदय सुरझय जान पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार ओंकार थे उपजय पंच तत्व आकार सबद वान गुरु साध के दूर दिशंतर जाय जही लागे सो ऊब रहे सूते लिए जगाए सबद सरोवर सुभर भरिया हरिजल निर्मल नीर दादू पीवे प्रीति सो तिनके अखिल शरीर भगवान हमें इनका मर्म समझाने की अनुकंपा करें नानक ने कहा है एक ओंकार सतनाम सत्य का एक ही नाम है वह है ओंकार ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती इस एक छोटे से शब्द में भारत की अनंत अनंत काल की खोज का सारा रस समाया हुआ है जिसने इस एक शब्द को समझ लिया उसने सब समझ लिया जो उस एक शब्द से वंचित रह गया वो कुछ और समझ ले उस समझने का कोई भी मूल्य नहीं इसलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना पहले कुछ प्राथमिक बातें पहली तो बात ओंकार को शब्द कहना ठीक नहीं मजबूरी है कुछ कहना पड़ेगा इसलिए इस शब्द कहते हैं लेकिन ओंकार शब्द नहीं जैसे और सब शब्द हैं वैसा ओंकार शब्द नहीं क्योंकि सभी शब्दों का कुछ अर्थ है ओंकार का कोई भी अर्थ नहीं ओंकार अर्थातीत है शब्द में तो अर्थ होता है ओंकार में कोई अर्थ नहीं है ओंकार शुद्ध ध्वनि है लेकिन उसे ध्वनि कहना भी मजबूरी है कुछ कहना पड़ेगा इसलिए कहना पड़ता है बहुत धुनिया है जगत में लेकिन सभी ध्वनिया दो वस्तुओं के आघात से पैदा होती उनके लिए पारिभाषिक शब्द है आहत नाद दो हाथ को टकराओ ताली बजती है दो पत्थरों को टकराओ आवाज होती है ओंकार अनाहत नाद है वो दो वस्तुओं के टकराव से पैदा नहीं होता वो एक हाथ की ताली है शब्द नहीं कह सकते क्योंकि अर्थातीत है शब्द में तो अर्थ होना चाहिए ध्वनि नहीं कह सकते क्योंकि सभी ध्वनियां आघात से पैदा होती हैं ओंकार अनाहत है वो आघात से पैदा नहीं होता तीसरी बात तुम जिस ओंकार का पाठ करते हो जिस ओंकार की रटन लगाते हो जिस ओंकार का जाप करते हो नानक या दादू उस ओंकार की बात नहीं कर रहे क्योंकि तुम तो जिसकी रटन लगाओगे वो ही आहतनाद हो जाएगा वो भी कंठ की टकराहट होगी तो ओंकार का जाप कोई कर नहीं सकता है ओंकार के जाप के लिए तैयार हो जाओ तुम एक दिन जाप उतरता है इसलिए ओंकार को जाप नहीं कह सकते ज्ञानियों ने उसे अजपा कहा है उसका जाप नहीं किया जा सकता है क्योंकि जाप तो तुम कर सकते हो ओंकार ओंकार ओंकार लेकिन वो तो तुम्हारी कंठ की ही टकराहट है वो तो तुम्हारा ही पैदा हुआ ओंकार है वो तो तुमसे पैदा हुआ तुम्हारी संतान है और जिस ओंकार की चर्चा हो रही है वो तो वो ओंकार है जिसकी हम सब संतान हैं तुम अपने पिता के पिता नहीं बन सकते जब तुम ओंकार को जपते हो तब तुम पिता को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो तब तुम पिता के पिता बनने की चेष्टा में लगे हो नहीं साधक ओंकार को जप नहीं सकता जपने के द्वारा केवल अपने भीतर उस व्यवस्था को निर्मित करता है जिसमें अजपा उतर आए सारी साधनाएं सिर्फ निमंत्रण है चेष्टाएं हैं तुम्हें तैयार करने की ताकि तुम्हारी तैयारी में वो संबंध साज बैठ जाए जहां अनाहत बजने लगता है ओंकार जपा नहीं जाता ओंकार सुना जाता है ओंकार जपा नहीं जाता ओंकार हुआ जाता है जब ओंकार उतरता है तब तुम नहीं बचते ओंकार ही रहता है ओंकार महामृत्यु इसलिए वो महामंत्र है बाकी सब मंत्र हैं ओंकार महामंत्र है एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में तीन बड़े धर्म पैदा हुए हिंदू जैन बौद्ध तीनों में बड़ा विभेद है सिद्धांतों की बड़ी टकराहट है तीनों की मान्यताएं ऐसी अलग अलग हैं कि उनमें कोई तालमेल बिठाना संभव नहीं कोई लाख समन्वय बिठा है इन तीन में समन्वय बैठ नहीं सकता वो तो त्रिकोण के तीन कोण हैं उनको तुम पास नहीं ला सकते लेकिन एक मत पर वे सब राजी हैं वो है ओंकार बौद्ध जैन हिंदू इस एक अनूठे शब्द पर राजी इस संबंध में कोई विरोध नहीं इस संबंध में एकदम मतैक्य है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी गौण है उस पर भी विवाद हो सकता है, है या नहीं आत्मा भी गौण है उस पर भी चर्चा चलने की सुविधा है, है या नहीं जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते लेकिन ओंकार को तीनों ही मानते ओंकार लगता है आत्मा और परमात्मा से भी बड़ा निर्विवाद वही एक मालूम होता है और ऐसा केवल भारत के धर्मों के संबंध में ही सच नहीं है भारत के बाहर पैदा हुए धर्म भी ओंकार को अनजाने रूप से मानते हैं उनकी व्याख्या में थोड़ी भूल हो गई है व्याख्या में भूल का कारण है जब ओंकार की ध्वनि सुनी जाती है तो अगर तुम ठीक ठीक सजग ना हुए अगर तुम बिल्कुल ही न मिट गए और तुम्हारे मन की कहीं किसी कोने कातर में कोई छाया छिपी रही तो तुम शुद्ध ध्वनि को ना पकड़ पाओगे तुम्हारा मन ध्वनि को उतना तोड़ देगा भारत के तो सभी धर्मों ने मन को मिटाने की चेष्टा की है इसलिए जब मन मिट जाता है तो ओंकार की शुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ती है भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए जीव इस्लाम ईसाइत उन तीनों ने मन को मिटाने की चेष्टा नहीं की है बल्कि मन को शुद्ध करने की चेष्टा की है शुद्ध होके भी मन बचता है पूरा नहीं मिट जाता है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है पारदर्शी हो जाता है हवा की तरह हो जाता है तुम छू भी नहीं सकते पता भी नहीं चलता कि है लेकिन होता है मन के न हो जाने पर जो ओंकार सुनाई पड़ा था तब तो हमने ओंकार को सीधा पकड़ लिया मन के होने पर शुद्ध मन के होने पर जो सुनाई पड़ा तो रूप थोड़ा बदल गया मन ने थोड़ी सी झंझट थोड़ी सी विकृति पैदा की इसलिए मुसलमान यहूदी और ईसाइत अपनी प्रार्थनाओं के अंत में जिस शब्द से पूर्ण करते हैं प्रार्थना को ओमीन या अमीन वो ओम का ही रूप है और उनके पास भी उसका कोई उत्तर नहीं कि अमीन का क्या अर्थ होता है वो ओम का ही रूप है ओम ओमन अमीन अंग्रेजी में तीन शब्द हैं omnipresent omnipotent omniscient अंग्रेजी भाषाविद बड़ी कठिनाई में पड़ते हैं क्योंकि वो इन शब्दों का मूल नहीं खोज पाते ये आते कहां से है ये शब्द बड़े अनूठे हैं ओमनी साइंड का अर्थ होता है जिसने सब देख लिया लेकिन ओमन कहां से आता है वो ओम का ही रूप है जिसने ओम देख लिया उसने सब देख लिया ओमनी प्रजन का अर्थ है जो सब जगह मौजूद है लेकिन वो ओमन कहां से आता है वो ओम का ही रूप है ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो ओम के साथ एक हो गया वो सब जगह मौजूद हो गया तुम एक जगह हो जिस दिन तुम ओम के साथ एक रूप हो जाओगे तुम सब जगह हो जाओगे ऐसी कोई जगह ना होगी जगत में जहां तुम न होगे तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाओगे ओमनी पोटेंट का अर्थ होता है जिसके पास सारी शक्ति है लेकिन मतलब इतने होता है जिसके पास ओम की शक्ति है जिसने ओम को पा लिया सब पा लिया जो ओम के साथ एक हो गया वो सब हो गया जो ओम में डूब गया वो सर्वशक्तिशाली हो गया ये ओम बड़ा अनूठा शब्द है भारत ने जो भी खोजा है अंतर जगत में वो ऐसे छोटे से सूत्र में समाहित है जैसे आइंस्टीन की सापेक्षतावाद की सारी खोज एक छोटे से सिद्धांत में समा जाती ऐसे ही ओम के छोटे से सूत्र में छोटे से सिद्धांत में भारत की सारी अंतर खोज समा गई बाहर की खोज में तो अभी बहुत कुछ बाकी है इसलिए आइंस्टीन जल्दी ही तिथि वाह आउट ऑफ डेट हो जाएंगे कोई दूसरा उनकी जगह ले लेगा ले ही लिए जगह लेकिन ओम के आगे भीतर कोई खोज बाकी नहीं बची वो यात्रा पूरी हो गई वहां हम मंजिल पर पहुंच गए इसलिए ओम को कभी भी विस्थापित नहीं किया जा सकता वो सिंहासन पर रहेगा ही तुम उससे दूर भटक सकते हो तुम उसे भूल सकते हो लेकिन उसे तुम सिंहासन से नहीं उतार सकते जब भी तुम घर आओगे तुम ओम को सिंहासन पर विराजमान पाओगे ये जो ओम है इसके संबंध में कुछ और बात ख्याल ले लें विज्ञान कहता है कि सारा जगत विद्युत तरंगों से बना है पत्थर भी सोना भी सारा अस्तित्व सारी वस्तुएं सारा पदार्थ पदार्थ नहीं है विद्युत तरंगों का घनीभूत रूप है हमने कुछ और जाना है हमने ये जाना है इधर पूरब में भीतर प्रवेश करते करते कि सारा जगत ध्वनियों का ही संग्रीभूत रूप है और विद्युत ध्वनि का एक प्रकार है वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि विद्युत का एक प्रकार है और सारा जगत विद्युत की तरंगों का जाल है हम कहते हैं सारा जगत ध्वनि का जाल है और विद्युत भी ध्वनि का एक प्रकार है तुमने कहानियां सुनी होंगी कि तानसेन ने दीपक राख से दीपक जला दिए इसकी संभावना है ध्वनि का आघात अग्नि को पैदा कर सकता है इसकी संभावना है इस पर बहुत प्रयोग चलते हैं और इस बात को इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आघात से ही तो विद्युत पैदा होती है पहाड़ से जल गिरता है उसकी चोट से विद्युत पैदा होती दो चकमक पत्थरों को तुम टकरा दो आग पैदा हो जाती तुम दो हाथों को रगड़ो हाथ गर्म हो जाते रगड़ से गर्मी पैदा होती विद्युत पैदा होती दो ध्वनियों की रगड़ से भी विद्युत पैदा होती है लेकिन बड़ी सूक्ष्म कला है शायद शास्त्र भूल गया हो हमें याद ना रहा हो कैसे हम दो ध्वनियों को टकराएं लेकिन अगर कभी किसी ने तानसेन ने या किसी ने भी दो ध्वनियों को टकराना सीख लिया हो तो दिए जल सकते जब दो पत्थरों के टकराने से आग पैदा हो सकती तो दो ध्वनियों के टकराने से क्यों पैदा नहीं हो सकती टकराहट उष्मा पैदा करती गर्मी पैदा करती और अब तो विज्ञान भी धीरे धीरे शिथिल हुआ है उसकी पुरानी जिद नहीं रही पुरानी अकड़ नहीं रही रस्सी तो जल गई पर जली हुई रस्सी में भी पुरानी अकड़ तो रह जाती बस उतनी ही अकड़ विज्ञान में बची हजारों प्रयोग चल रहे हैं सारी पृथ्वी पर जो विज्ञान को जड़ों से उखाड़े डाल रहे हैं ध्वनि पर बहुत प्रयोग हुए हैं इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोगशाला है दिलावार वहां उन्होंने बड़े प्रयोग किए विशेष संगीत के प्रभाव में बेमौसम में वृक्षों में फल आ जाते विशेष संगीत के प्रभाव में वृक्ष दुगनी गति से बढ़ते हैं विशेष संगीत के प्रभाव में मां के गर्भ का बच्चा बहुत तीव्रता से परिपुष्ट होने लगता है जो पौधा बिना संगीत के साल भर में बड़ा होता है वो दो महीने में उतना बड़ा हो जाता है संगीत के साथ पौधे सुनते कनाडा में एक छोटा सा प्रयोग किया गया जहां रविशंकर पंद्रह दिन तक सितार बजाता था उसके दोनों तरफ बीज बोए गए थे जो पौधे पैदा हुए वो सब रविशंकर की तरफ झुके थे दोनों तरफ से जैसे कि बहरा आदमी कान झुका लेता वो सब पौधे झुके हुए पैदा हुए एक भी पौधा नहीं था जो संगीत सुनने को उत्सुक ना हो भवन के बाहर दूसरे बीज बोए गए थे उसी दिन जिस दिन भवन के भीतर के बीज बोए गए वो सब सीधे पैदा हुए थे क्या हुआ पौधे सुनने को आतुर थे और बाहर जो पौधे थे वे आधे ही बढ़े पंद्रह दिन के प्रयोग में भीतर के पौधे दुगने बढ़ गए उनकी शान और थी ध्वनि में भोजन है जीवन है ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो संगीत से आंदोलित ना होता हो जिसके पैर न थिरकने लगते हो जिसके हाथ ताल ना देने लगते हो जिसके भीतर कोई धुन न बजने लगती हो और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि धातुएं भी पौधे तो ठीक धातुएं भी संगीत से प्रभावित होती अगर कोई धातु को संगीत सुनाया जाए तो उसमें जंग लगना मुश्किल हो जाता है इस बात की बहुत संभावना है कि अशोक की लात जो दहली में खड़ी है जिसको वैज्ञानिक नहीं समझ पाए अब तक कि उस पर जंग क्यों नहीं लगती क्योंकि सदियों से खड़ी है वर्षा धूप सब मौसम आते हैं जाते हैं अभी तक वैज्ञानिक ऐसा कोई स्टेनलेस स्टील पैदा नहीं कर सके जो सदियों तक धूप में वर्षा में बाहर पड़ा रहे और जिस पर जंग का एक दाग ना आया हो मेरी अपनी समझ यह है कि बहुत गहन संगीत में उस लाट को तैयार किया गया है बड़े मंत्रोच्चारों के बीच उस लाट को तैयार किया गया है मंत्र उसे अब भी सुरक्षित किए वो अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं इजिप्त के पिरामिड हैं वे पिरामिड इतने बड़े पत्थरों से बने हैं कि हमारे पास अभी जो क्रेने हैं विकसितम वो भी उन पत्थरों को उठाने में समर्थ नहीं और आज से पांच हजार या चार हजार साल पहले उन पत्थरों को ले जाने का कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता और जहां वो पिरामिड बने हैं वहां पास पत्थरों की कोई खदान नहीं है सैकड़ों मील दूर खदाने हैं रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड तो पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया गया है उन दिनों क्रेनों का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक भी क्रेन थी या कोई यंत्र था निहत्ते आदमियों ने उनको ढोया है ये बिल्कुल असंभव है ये हो कैसे सकता है लेकिन ध्वनि का शास्त्र कहता है एक विशेष ध्वनि की अवस्था में वस्तुएं निर्भर हो जाती तुमने भी शायद कभी गौर किया होगा जब तुम नाचते हो प्रसन्न होते हो गीत तुम्हारे हृदय में गूंजता है तो तुम्हें बोझ नहीं मालूम पड़ता तुम एकदम हल्के हो जाते जब पैर जमे होते हैं और नाच पैदा नहीं होता है जब हृदय बंद होता है और गीत नहीं फूटता है और कहीं चारों तरफ कोई नृत्य की पुकार नहीं आती तब तुम अपने को पाते हो जैसे पत्थर हो गए और बजनी हो गए तुमने ख्याल किया होगा साधारण मजदूर आज भी जब किसी बड़े पत्थर को उठाते हैं तो बड़ा हो हल्ला मचाते लेकिन उस हो हल्ले में एक संगीत होता है हैया हे ये ध्वनि अगर बार बार दोहराई जाए तो मजदूर बड़े से बड़े पत्थर को उठा लाता है तुमने तो नाविकों को मझधार में नदी को पार करते देखा हो पूर की तो हैया है जब नदी बहुत टक्कर देने लगती और आदमी की ताकत कमजोर पड़ने लगती तब स्वर को पुकारा जाता है स्वर तत्क्षण बचा लेता है बड़ी ताकत दौड़ जाती है भीतर स्वर में छिपी हुई ऊर्जा है ओंकार का अर्थ है मूल स्वर जिससे फिर सब स्वर पैदा हुए मूल स्रोत आज उससे हमारे संबंध छूट गए नाता नहीं रहा हम भूल ही गए उन शिखरों को जो छू लिए गए थे हम सोचते हैं दुनिया जैसे पहली बार सभ्य हो रही भ्रांति दुनिया बहुत बार सभ्य हो चुकी है और दुनिया ने बहुत बार बड़ी उतुंग ऊंचाइयां पाली और फिर उतुंग ऊंचाइयां खो जाती अब आज प्रार्थना कोरा शब्द है पूजा एक औपचारिकता है मैं घर में मेहमान था इकलौता बेटा घर का देर तक सो के नहीं उठा था तो माँ उससे कह रही थी कि बेटा उठो तुम ऋषि मुनियों के देश में पैदा हुए हो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उस बेटे ने बिस्तर में ही पड़े पड़े करवट लेके कहा कि माँ तुमको पता नहीं ऋषि कपूर नौ बजे के पहले कभी नहीं उठता और दादा मुनि अशोक कुमार तो दोपहर तक सोते ऋषि मुनि खो गए ऋषि कपूर अशोक कुमार रह गए प्रार्थना कोरा शब्द है पूजा एक ढोंग है जाप निरर्थक मालूम होता है भगवान का नाम लोग जानते ही नहीं कैसे लें कब लें मैं एक मित्र के बेटे से पूछ रहा था कि तुम्हारे पिता कभी प्रार्थना करते उसने कहा कल ही कर रहे थे मैं थोड़ा चौंका क्योंकि उनके पिता से प्रार्थना का कोई संबंध जोड़ेगा इसकी आशा भी नहीं की जा सकती मैंने पूछा बताओ क्या प्रार्थना की उन्होंने कहा शाम को ही भोजन के वक्त प्रार्थना कर रहे थे बोले हे भगवान फिर वही मूंग की खिचड़ी बस प्रार्थना इतनी हो गई प्रार्थना एक शिकायत है एक मित्र कल सांझ को ही मुझे मिलने आए थे वो कहते हैं परमात्मा से वो नाराज हो गए प्रार्थना करते थे पूजा करते थे ध्यान करते थे और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो नाराज हो गए हे भगवान फिर मूंग की खिचड़ी तो अब वो प्रार्थना नहीं करेंगे पूजा नहीं करेंगे नाराज ये प्रार्थना कैसी ये पूजा कैसी ये अर्चना कैसी ये कोई सौदा है तुम परमात्मा पर कोई एहसान कर रहे थे कहने लगे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं इतनी पूजा प्रार्थना की फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ अगर मांगा ही ना था तो ये सवाल ही क्यों उठता है कि फिर बच्चा पैदा ना हुआ मांग तो रही ही होगी तुम्हारी पूजा झूठी है तुम्हारी पूजा रुस्बत से ज्यादा नहीं तुम परमात्मा की रुस्बत कर रहे हो तुम कोशिश कर रहे हो फुसलाने की उसे ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई जो वासना है उसे वो पूरा कर दे तुम परमात्मा को अपनी वासना का चाकर बनाना चाहते भक्त तो कहते हैं माने जाकर राखो जी प्रार्थना जो करते हैं तो मीरा कहती है गिरधर मुझे अपना नौकर बना लो तुम परमात्मा को नौकर बनाने की कोशिश में लगे हो बस वहीं चूक हो जाती अगर कुछ भी मांगा तो प्रार्थना खो गई अगर कुछ भी चाहा तो पूजा पूजा न रही भ्रष्ट हो गई कुरूप हो गई और ओंकार तो तब उतरता है जब तुम मंदिर की तरह शुद्ध पवित्र हो जाते हो निर्दोष हो जाते हो जब तुम एक छोटे बच्चे की तरह कुआरे हो जाते हो अभी पिछले वर्ष इसराइल में एक बहुत अनूठा आदमी है उसका नाम है यूरी गैलर वो सिर्फ इशारे से बिना वस्तुओं को छुए उनको तोड़ मरोड़ देता है चाकू उसके सामने करो बस वो सिर्फ हाथ का इशारा करेगा चाकू मुड़ के गोल हो जाएगा सीख से मजबूत उसके सामने करो वो दस फीट बीस फीट की दूरी से उनको झुका देगा सिर्फ इशारे से जिनको तुम ताकत लगा के नहीं झुका सकते तो पिछले वर्ष एक बहुत अनूठी घटना घटी इंग्लैंड में बीबीसी टेलीविजन पर उसने अपना प्रयोग दिखलाया और सिर्फ उत्सुकता सिर्फ एक अनहोनी घटना की संभावना के कारण उसने टीवी पर प्रयोग बतलाते समय कहा कि जो लोग भी टीवी देख रहे हैं वे भी अपने घरों में प्रयोग करें मेरे साथ कौन जाने उनमें से कुछ लोग क्योंकि करीब लाखों लोग टीवी देख रहे थे यूरी गलर टीवी पर था शायद कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमता हो जिनका उन्हें भी पता नहीं तो हजारों लोगों ने प्रयोग किए दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई उसमें पंद्रह सौ लोग सफल हो गए थे जिन्होंने यूरी गेलर के साथ ही टीवी पर देखते वक्त चीजों को आज्ञा दी वो मुड़ गई मगर एक बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो जो पंद्रह सौ लोग सफल हुए थे वो सब बच्चे थे उनकी कोई की भी उम्र चौदह साल से ज्यादा नहीं थी और किसी की उम्र सात साल से कम नहीं थी सात और चौदह के बीच में थे वो सभी बच्चे थे सात और चौदह के बीच कुआरापन होता है वीर की ऊर्जा अपनी परिपूर्ण शुद्धता में होती शक्ति होती है और एक भोलापन होता है जहां शक्ति और भोलापन का मिलन हो जाता है वहीं परम की घटना घटती यूरी गैलर भी भरोसा ना कर सका कि कैसे हुआ और बड़ी तो बात यह थी कि सात और चौदह के बीच ही क्यों हुआ चौदह के बाद जीवन में वासना कामना घेर लेती मन फिर स्वच्छ नहीं रह जाता मंदिर की पूजा में वासना प्रविष्ट हो जाती सात के पहले मन तो पवित्र होता है लेकिन ऊर्जा नहीं होती तो सात और चौदह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और वही बर्बाद किया जा रहा है सारी दुनिया में बर्बाद किया जा रहा है इसलिए इस देश में तो हम उन सारे क्षणों का बड़ा उपयोग करते थे सात वर्ष का होते ही बच्चे को हम गुरुकुल भेज देते थे वो जंगल चला जाता था वहां से हम उसे 21 के पहले नहीं बुलाते थे चौदह की उम्र के सात वर्ष पहले हम उसे भेज देते थे और चौदह के बाद सात वर्ष तक और उसे वहां रहने देते थे ताकि जिस पावनता को उसने अनुभव किया है उसमें गहन हो जाए सुदृढ़ हो जाए फिर जब वापस लौटे जगत में तो जगत उसे छू भी ना सके वो जगत से गुजर जाए लेकिन जगत उसे स्पर्श भी ना कर सके फिर वो विवाह भी करेगा लेकिन उसका ब्रह्मचरी खंडित ना होगा उसके बच्चे भी पैदा होंगे लेकिन कामना कभी उसका उसको विकृत ना करेगी ये सब कर्तव्य होगा करना है इसलिए वो करेगा लेकिन उसका बिस्तर सदा बंधा रहेगा कि कब ये पूरा हो जाए कि मैं वापस लौट जाऊं क्योंकि जो स्वाद उसने चख लिया है उन थोड़े से शक्ति के क्षणों में वो बुलाए चला जाता है उसकी पुकार अहिरने सुनाई पड़ती है सोता है जागता है दुकान पर काम करता है बच्चों को बड़ा करता है लेकिन वो पुकार खींचती स्वाद एक बार लग जाए परमात्मा का तो फिर बात ही और हो जाती तुम पूजा तो करते हो बिना स्वाद के प्रार्थना करते हो बिना स्वाद के और प्रार्थना भी करते हो पूजा भी करते हो कुछ पाने के लिए नहीं तुम ओंकार को कभी ना जान पाओगे अगर ओंकार को जानना है सब कामना छोड़ देनी होगी मांग ही छोड़ देनी होगी खाली हो जाना होगा दादू इसी महामंत्र के संबंध में बात कर रहे हैं समझने की कोशिश करें शब्द बंध्या सब रहे शब्दे सब ही जाए शब्दे ही सब उपजे शब्दे सने सबे समाये शब्द से अर्थ है ओंकार शब्दों का शब्द ओंकार शब्द बंधा सब रहे अगर तुम्हारे भीतर ओंकार की धुन बजे तो तुम्हारे भीतर एक एकता होगी तुम बंधे रहोगे टूट फूट ना जाओगे खंड खंड ना हो जाओगे अखंड रहोगे जैसे माला में पिनका पिरोया हुआ धागा माला के मनकों को बांधे रखता है ऐसे ओंकार की ध्वनि अगर तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन के सब मन के अनसयुत हो जाएंगे एक माला बन जाएगी अभी तुम सिर्फ मनकों का एक ढेर हो माला नहीं क्योंकि धागा नहीं जो तुम्हारे सब कृत्यों में सब भावों में सब विचारों में समा जाए और सबको एक एकता में बांध ले मनस्वित कहते हैं कि आदमी एक भीड़ है ठीक कहते हैं तुम भीड़ हो तुम्हारे भीतर बहुत आदमी है आदमी ही आदमी है तुम एक बाजार हो तुम्हारे भीतर एक का अभी जन्म नहीं हुआ क्योंकि एक के जन्म के लिए तो तुम्हें एक होना पड़ेगा तुम्हें भीड़ को समेटना होगा तुम्हें खंड खंड जो तुम बट गए हो उस सबको जोड़ना होगा ओंकार सीमेंट है जोड़ता है खंड को खंड से एक कर देता है अखंड का जन्म होता है और जिस दिन तुम अखंड होते हो उस दिन कैसी चिंता कैसा तनाव सारा तनाव सारी चिंता सारी बेचैनी भीड़ की वजह से कोई पश्चिम की तरफ खींच रहा है तुम्हारे भीतर का हिस्सा कोई पूरब की तरफ खींच रहा है कोई नर्क जाना चाहता है कोई स्वर्ग जाना चाहता है कोई पूजा करना चाहता है कोई वैश्या का विचार कर रहा है कुछ भी तुम कर नहीं पाते एक स्वरता नहीं है करते भी हो तो अधूरा होता है प्रार्थना करने भी बैठे हो तो वहां मन नहीं होता बस एक छोटा सा हिस्सा गुनगुनाए चला जाता है वो ऐसी ही हालत होती है जैसे तुम रेडियो सुन रहे हो और बैटरी बिल्कुल फीकी हो गई बामुश्किल सुनाई पड़ता है कुछ ऐसी ही तुम्हारी प्रार्थना है पूरी ऊर्जा नहीं बहती ऊर्जा कहीं और जा रही है तुम स्वर्ग भी पहुंच जाओ तो भी तुम पूरे न पहुंचोगे तुम्हारा एक आध टुकड़ा पहुंचेगा बाकी तुम नरक में पड़े रहोगे और दोनों के बीच जो दूरी होगी वही तुम्हारा तनाव है तनाव का एक ही अर्थ है कि तुम्हारे टुकड़ों के बीच बड़ी दूरी है बड़ा खिंचाव है एक हाथ एक तरफ खींचा जा रहा है दूसरा हाथ दूसरी तरफ खींचा जा रहा है यही तो बेचैनी है एक ही चैन है दुनिया में और वो है जब तुम एक हो जाओ दादू कहते हैं शब्द बंधा सब रहे शब्दे सभी जाए शब्दे ही सब उपजे शब्दे सबे समाए उसी से तो बंधन उसी में तो तुम एक होते हो वही तो तुम्हें जोड़ता है और तुम्हें ही नहीं सारा अस्तित्व ओंकार से जुड़ा है जब तुम परिपूर्ण शून्य हो जाओगे तब भी तुम्हें धुन सुनाई पड़ती रहेगी वो शून्य की धुन होगी वही ओंकार है शून्य का संगीत है ओंकार तुमने कभी रात का सन्नाटा सुना है सन्नाटे का भी एक संगीत है जब कोई भी आवाज नहीं होती तब भी एक आवाज बच रहती जब सब शोरगुल खो जाता है तब उस सन्नाटे में भी एक स्वर होता है ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर का सब भीड़ सब शोरगुल खो जाएगा तब तुम्हारे भीतर तुम्हें एक स्वर सुनाई पड़ेगा वही ओंकार है शून्य का संगीत है ओंकार और तुम्हें ही नहीं बांधे हुए सारे अस्तित्व को बांधे हुए साधे हुए वही है आधार उसके बिना सब बिखर जाएगा शब्दे बंधा सब रहे शब्दे ही सब जाए और अगर वो शब्द तुमसे खो जाए तो तुम एक बिखरी हुई स्थिति में हो जाते हो तब तुम्हारी आकृति विकृत हो जाती तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है तुम्हारे कंठ में बांसुरी नहीं बचती है तुम्हारी आंखों में ओझ नहीं रह जाता तुम्हारे जीवन की धारा जगह जगह टूट जाती है जैसे कभी ग्रीष्म के दिनों में नदियां टूट जाती हैं एक डबरा भरा है फिर रेत आ गई फिर थोड़ा सा डबरा रह गया फिर रेत आ गई जो ओंकार से जुड़ा है वो पूर आई नदी की भांति है अखंड है स्रोत से लेकर अंत तक गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक है शब्दे ही सब उपजे इस ओंकार से ही सबका जन्म हुआ है और इस ओंकार में ही सबको लीन हो जाना है क्योंकि हमारी समझ से अंतर खोजियों की दृष्टि से ओंकार की ध्वनि इस जगत का सारभूत तत्व है ओंकार के ही संघात से चोट से सब पैदा हुआ है और ओंकार की ही परत दर परत जमती जाती है और विभिन्न रूप पैदा होते हैं इसमें कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है क्योंकि विज्ञान कहता है विद्युत से सारी चीजें पैदा हुई हैं क्या फर्क पड़ता है विद्युत से पैदा हो या धुन से पैदा हो दोनों ही बातें समझ में आने जैसी लेकिन ये भेद क्यों है क्योंकि विज्ञान बाहर से खोजता है बाहर से जो चीज विद्युत जैसी दिखाई पड़ रही है वही चीज भीतर से धुन जैसी दिखाई पड़ती है एक तो है मकान के बाहर से देख जाने वाला आदमी और एक है अतिथि की तरह मकान के भीतर आ जाने वाला आदमी धर्म और विज्ञान में यही फर्क है विज्ञान बाहर बाहर घूमता है तो बाहर की रेखा और परिधि को पहचान लेता है ठीक से धर्म अंतर्ग्रह में प्रवेश करता है और भीतर से चीजों को जानता है दोनों के मध्य में कला का जगत है कवि का चित्रकार का मूर्तिकार का मूर्तिकार दोनों के बीच है चित्रकार दोनों के बीच है कवि दोनों के बीच कवि साधारणता तो बाहर हो जाता है साधारणता तो बाहर रहता है लेकिन कभी मौका मिल जाए तो चोर की तरह भीतर प्रविष्ट हो जाता है कला एक तरह की चोरी है कभी कभी चोर तुम्हारे घर में रात के अंधेरे में घुस आता है वो अतिथि नहीं है वो निमंत्रित भी नहीं है सामने के द्वार से भी प्रवेश नहीं किया है वस्तुता तो जब मेजबान सोया है तब वो आता है अगर मेजबान जागा हो तो वो आएगा ही नहीं विज्ञान बाहर घूमता रहता है कभी चोरी से भीतर प्रवेश कर जाता है इसलिए कविता में कभी कभी धर्म की धुन सुनाई पड़ती है काव्य में कभी कभी परम अनुभूति का थोड़ा सा प्रकाश मालूम पड़ता है और अक्सर यह होता है कि अगर किसी कवि की कविता पढ़ो तुम तो तुम्हारे मन में एक छाया पैदा होती कवि की कि कितना सुंदर कितना भव्य कितना दिव्य न होगा ये व्यक्ति मगर भूल के व्यक्ति को मिलने मत जाना नहीं तो तुम उसे बैठे किसी होटल में चाय पीते पाओगे या बिड़ी सुलगाते पाओगे और तुम बड़े हैरान होगे बड़े उदास कि इतनी ऊंचाई थी कविता की और ये कवि कहां पड़ा है और कवि तुम्हें बिल्कुल साधारण आदमी मालूम पड़ेगा उसका कोई कसूर भी नहीं साधारणता वो बाहर रहता है मौके बेमौके अंधेरे उजाले कभी समय पाके चोरी से भीतर घुस जाता है धर्म अतिथि की तरह भीतर प्रवेश करता है आमंत्रित अतिथि की तरह तैयार होकर प्रवेश करता है इसलिए हमने इस मुल्क में कवियों को दो शब्द दिए दोनों का मतलब एक होता है और दुनिया की किसी भाषा में कवि के लिए दो शब्द नहीं है सिर्फ भारत की भाषाओं में एक को हम कवि कहते हैं दूसरे को हम ऋषि कहते हैं दोनों का मतलब एक ही है दोनों का मतलब है दृष्टा जिसने देखा लेकिन दोनों में फर्क क्या है एक ने चोर की तरह देखा घुसा वो भी घर के भीतर मगर डरा डरा घुसा घुसा वो भी लेकिन बिना तैयारी के घुसा घुसा वो भी लेकिन योग्य न था और घुसा घुसा वो भी लेकिन मालिक जब सोया था तब घुसा थोड़ी खबर ले आता है जैसा कि चोर भी घर के भीतर की थोड़ी खबर देगा लेकिन अंधेरे में बहुत ज्यादा देखा नहीं जा सकता है और घबराया हुआ डरा हुआ दूसरे के घर में कितना देख पाएगा थोड़ा बहुत खबर ले आता है धर्म तैयार होकर भीतर जाता है साधक तैयारी करता है अपने को योग बनाता है पात्र बनाता है प्रतीक्षा करता है तब तक द्वार पर जब तक कि बुला ना लिया जाए द्वार पर दस्तक भी नहीं देता क्योंकि जब राजी हो जाऊंगा योग्य हो जाऊंगा मालिक के योग्य हो जाऊंगा बुला लिया जाऊंगा प्रतीक्षा करता है तो वो जो देखता है वो बात ही और वो है ऋषि उपनिषद के कवियों को हम ऋषि कहते हैं ऋषि मुश्किल से कभी हजार कवियों में एक कवि ऋषि होता है ऋषि का मतलब है जो उसने जाना है वो सिर्फ जाना नहीं वो उसका जीवन भी है और कवि का अर्थ होता है जिसने जाना है वो अलग उसका जीवन अलग तुम उसके जीवन में खोजबीन करने मत जाना तुम उसकी कविता को पढ़ना और कविता से कुछ पा सको तो पा लेना लेकिन कवि को खोजने मत जाना अन्यथा निराशा हाथ लगेगी अगर कवि को खोज के भी तुम्हें कविता ही दिखाई पड़े कवि में तो वो ऋषि है ऐसा कभी कभी होता है कोई एक रविंद्रनाथ कोई एक खलील जिब्रान सिर्फ कवि नहीं होता ऋषि भी होता है तब वो सिर्फ गाता ही नहीं जो गाता है उसे जीता भी है उसके शब्द शब्द ही नहीं होते उसके शब्द में उसके प्राण की धड़कन होती तब वो अपने को ऊंडेलता है और जाना है उसने जी कर जाना है चोरी से खिड़की से पीछे के द्वार से झलक नहीं ली है मेहमान की तरह परमात्मा के भवन का वासी बना है और जो वहां मेहमान की तरह रहा है वो सदा के लिए रूपांतरित हो जाता है